फिर जब हमारा अजाब उन पर आया तो उनकी पुकार इसके सिवा कुछ न थी कि उन्होंने कहा कि हम वाकई जालिम थे